सन शिष्य एकांत उपविष्ट समाहित सन यथोत्तम आचार्य आगमन अर्थ को विचार्य तर्क पश्च निर्धार्य स्वानुभव कृत्वा आचार्य शिष्य बात को शिष्य ने सुनने के बाद शिष्य एकांत उपविष्ट एकांत में करना और प्रत्याधारा युक्त हो गया समाहित सन सर्वेन्द्रियों को निग्रहित करके सर्वकाम चित होकर के क्या किया यथोत्तम आचार्य ने आगमन यथोक्त आचार्य के यथोत्तम आगमन यथोक्त आगमन को अर्थ से विचार अर्थ से विचार किया फिर तर्क का निर्धार्य मन पहले विचार किया और तर्क निर्धार भी कर दिया योग्य मन और फिर स्वानुभवी भोजन करने के बाद आचार्य प्रकाश ब्रह्म वाचन आका आचार्य के पास में आकर के कहा मन्य हम अथ इदानी विदितम मैं इतना ही मानता हूँ अब यह निश्चय हो गया मेरे को क्या मैं ब्रह्म को जानता हूँ अपने कहीं ब्रह्म को जानता हूँ तीन रूप में जानता हूँ घटा यह स्वजूत में जानता हूँ यह स्वस्वरूप में जानता हूँ तो कुछ नहीं कह रहा है इधर कहता है एकदम विदितम ब्रह्म ब्रह्म जो है विदित कैसे विदित है किस प्रकार तुम उसको जानते हो कदम तो जवाब देता है शिष्य ना हम मन्ये स्वे ऐसा जवाब दी बड़ा पक्का है हाँ, तो चले ना हम मंदिर सुवेदी मैं जो है इसे घटपटारियों को समय प्रकार से जानता हूँ सृष्टि जानता हूँ वैसे मैं उस ब्रह्म को मुझसे पृथक विषय रूप लेना मैं नहीं जानता तो तुम जानती ही इसका मतलब तुम जानती नहीं जानता तो नहीं कहना बिल्कुल जानता हूँ मैं जो दृढ़ता का सूचक होता है वेदम मैंने अवश्य में वो वेदम अवश्य ही उसे जानता ये कह दिया था तो चकार क्यों कह रहे हैं आप वेद हाँ? कितने क्या करते हैं वेद चेत चकार के वजह से वेद जानकारी नहीं जानता जवाब जो है कर्म डाल दोगे मन उसको मेरा कर्म कर जाएंगे छह जानता हो क्या करेंगे मेरे छह अच्छा, छह अच्छा जो कह रहा है ग्रुप को बोध कराने के लिए जानता भी हूँ ये भी जान अवश्य मेरा जानता हूँ का तात्पर्य है मैं उसे जानते हुए भी नहीं जानता कैसे कैसा होगा हाँ, जो मेरे इस वाक्य को समझेगा ना वही वास्तव में उसको जानता जो नाम आत्माकम हम लोगों में से जो व्यक्ति तद्युग मेरे कहा इस वचन को समझ लेता है वही तद्युग उस ग्रंथ को जान लेगा इसको जो जान लेगा ना वो ग्रंथ को अगर का तात्पर्य है मैं निर्गुण स्वरूप को जान रहा हूँ लेकिन उसका सुगम रूप में ग्रहण नहीं करता मैं जानता नहीं हूँ तो मुझे भी जानता जानता हूँ किन रूपेणा तो निर्गुण रूप नहीं जानता और क्या बताते हैं क्योंकि क्यों मैं सगुन में ब्रह्म नहीं इसलिए सगुन रूप से मैं उस ब्रह्म को जान नहीं सकता जो कुछ ही सगुण रूप है उससे विशिष्ट है वो अज्ञान आधीन है माया अधीन इसीलिए उनमें से कोई भी चीज ब्रह्म नहीं इसे मिश्र रहा जी को जो समझ लिया कि हम उस ब्रह्म को सगुण रूप से कभी भी जान नहीं व्यक्ति के माध्यम से उसे हम ग्रहण नहीं कर सकते बुद्धिजन्य वृत्तियों के द्वारा उसको हम निरूपण कर सकते हैं क्योंकि बुद्धि वृत्तियों का जो अधिष्ठान बुद्धि वृत्तियों में भी चैतन्यता को प्रकाश का प्रदान करने वाला उस अधिष्ठान में प्रकाश को स्वयं बुद्धि वृत्ति प्रकाशित नहीं कर सकते क्योंकि वह जिस प्रकाश को लेकर सभी को प्रकाशित कर रहा है वह उस बुद्धि स्रोत का प्रकाश को प्रकाशित करने में समर्थ नहीं हो सकता किंतु जब भी उसकी ओर अनुरूप हो जाएगा क्या हो जाएगा उसी में नहीं हो के लिए पहले भी दिया है जैसे की पूर्णिमा हमेशा पूर्णिमा का क्या है सूर्य से पूर्ण रूप प्रकाश ले रहा है और पूर्ण रूप जगत को प्रकाश और अमावस्या का दिन और धीरे धीरे जगत को प्रकाशित करते करते करते उसने सोचा मैं सूर्य को प्रकाशित करते मैं जब प्रकाशित कर सकता हूँ तो लंबा चौड़ा तो सूर्य को प्रकाशित कर सकता हूँ अहंकार आ गया और वो घूमते घूमते जो है जो सूर्य की ओर चला जाता है कारण फिर आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देती क्यों नहीं अब ऊपर प्रतिमे में नहीं रहेंगे कहा गया वो तो आपस में ही दूर सूर्य से आया चंद्रमा पे और चंद्रमा का वापस सूर्य में चला वृत्ति उधर प्रकाशित नहीं कर सकती किंतु उसकी वृत्ति जो है प्रकाश जो प्राप्त होना प्रतिफलन के माध्यम से उसमें गुजर इसलिए निर्गुण ब्रह्म को हम प्रकाशित नहीं कर सकते इसलिए मेरा कहना है मैं उसको जैसे घटपटारी को प्रकाशित कर जान लेता हूँ सभी वस्तुओं को इस प्रकार निर्गुण ब्रह्म को निर्गुण रूप है ना सभी सामान्य प्रकाश ना सर्वाधिष्ठान रूप से सभी का प्रकाशक ना हम उसको जान सकते हैं रहस्य को जो मेरा कहावा नौ मेरे देखी मेरे क्या इस रहस्य को हम लोगों ने जिस किसी व्यक्ति ने जान लिया है वही वास्तव में उस ग्रंथ को जाना मेरा हुआ कि कौन है उसको दोबारा दोहराता है लो लगे हुई है मैं नहीं जानता ऐसी बात नहीं है मैं जानता भी हूँ फिर भी मैं नहीं भी जानता विद्रोह कर दिया कठोर नाहम अन्य स्वेद मेवा हम अन्य स्वेद ब्रह्म उन्हें मैं बिल्कुल नहीं मानता कि मैं घटपटारी के समान ब्रह्म को विषय के ऊपर पकड़ लिया वृत्तियों से विषय बना लिया ऐसा मैं कभी नहीं मानता तो गुरु कह सकता नहीं कभी कभी नहीं निकल गया ब्रह्मा फिर तो तेरे द्वारा ब्रह्म जाना ही नहीं गया इसलिए <laughs> तो आगे का है चौ के क्या कहना लिखिए छ शब्द न वेद अच्छा। वेदा न वेद जानता भी नहीं का कर देने के बाद जानता भी नहीं भी जानता जब मैं घर को देखा भी नहीं भी देखा उसके बाद उनका बोलता वेद हो रहा प्रतिशील नाम मन्य सूर्य की मनोवेद की ये लक्ष्य तीनों आज तस्कर तुम लोग मैं सम्यक प्रकार सुशिक्षित प्रकार से उसको जानता हूँ ऐसा मैं नहीं मानता और अवश्य ही जानता हूँ नो ना पूरे अवश्य ही मैं उसको जानता हूँ और कुछ तरफ गया जानता भी नहीं नहीं भी जानता इस प्रकार के विरुद्ध त्रिक है परस्पर विरोधी तीन वाक्य है मैं उसका सगुण विशिष्ट रूप में नहीं जानता ऐसा बिल्कुल मानता ही नहीं कि मैं सगुण ब्रह्म को मन ब्रह्म को सगुण रूप रूपेणा विशिष्ट रूप रूपेणा ग्रहण कर सकता हूँ ऐसा मैं कभी नहीं मानता पहला वक्त तो हो गया फिर कहता है तुम नहीं आम जाओ तुम पहले नहीं तुम अवश्य मैं के केवल दृढ़ता रखा अवश्य ही जानते तो बताओ भाई कैसे होगी जानता हूँ मैं जानते हुए नहीं जानता बताओ ये बच्चा बड़ा तो, लक्षण स्थिति है ना ये अब उस स्थिति में आप मन को ले जाइए और बुद्धि की वृत्तियों को ले जाइएगा तो तब पता चलेगा तो कैसा अटपटा सकती है आनंद भी आएगा हंसी भी आएगी आगे रोएगा एक पागलपन का आज तक क्षण पागलपन में था जो कुछ भी कर रहा था जगत को सत्य मान रहा अब पता चल रहा है जो कुछ भी है तो नहीं कुछ है दूसरा कोई चीज इसलिए कहते मैं जानता हूँ जानते ही नहीं जानता हूँ शब्दों में भी बोलना है तो ऐसा ही बोलना पड़ेगा क्योंकि जानते हुए हो तो फिर बोलो बोल नहीं सकते इधर नहीं जानते हुए पड़ेगा इसलिए कहते पूरे पक्षी शंका करता है ये तो फर्श के विरुद्ध तीन वाक्य हो गया यदि मैं मन में से सुबह रीति खत्म बैठे बैठे देखती क्योंकि यदि तुम तो नहीं मानते हो मैं जानता हूँ अच्छी तरह से तो कैसे कह दिया कि वेद तो? अगर मन मन से ले ही नहीं थी असल न मैंने शिष्य में नहीं और जो मानते मैं जानता हूँ फिर सुविधा करके क्यों नहीं मानते हो केवल वस्तु ये ज्ञान देते नहीं होते वस्तु न कोई ज्योति के रूप में निश्चितम एक और वस्तु एक वस्तु जिसके द्वारा जाना गया है उसी व्यक्ति ने कहा वह व्यक्ति उस वस्तु को समय प्रकार से शुक्र प्रकार से नहीं जानता हूँ तो ये परस्पर निश्चित नहीं ये सही हो सकता है क्या वो संशय हो या विपरीत और भ्रम क्या हमें संशय विग्रह को संभव है संशय विग्रह वर्गी का संशय विपर्य को छोड़ करके ऐसा प्रतिषिद्ध एक वस्तु में एक व्यक्ति के द्वारा कथन करना असंभव है संशय में कथन हो सकता है विपर्य में ऐसा कथन किया जा सकता है लेकिन संशय विपर्य ज्ञान नहीं हो ऐसे यथार्थ ज्ञान स्थल में इस परस्पर कथन करना असंभव है संशय नियम विपरीत होगा नियम सत्य और ब्रह्म तत्व को संशय रूप से जाना जाएगा तो विपरीत भावना ब्रह्म रूप से जाना जाएगा ऐसा नियमन नहीं कर संशय करेंगे समर्थ हमें लिए प्रसिद्ध है क्योंकि संशय करे ये दोनों ही अनर्थक है ऐसा प्रसिद्ध है मोक्ष का साधन करने के लिए प्रसिद्ध है ब्रह्म का ज्ञान मोक्ष और ब्रह्म का ऐसा होगा संशयात्मक जानता नहीं मैं भी जानता हूँ भाई बिल्कुल भ्रांति पूर्वक बता रहा हूं तो ये मोक्ष हो सकता है ये तो अनधिकारी हो जाएगा एवं तो आचार्य न विचार्य लो होती ऐसा जो है आचार्य उल्टा पुलटा बोल के उसको भगाया खेला कर देखो कहीं करवा जाएगा क्या इस प्रकार से जान करके जान बिठाया आचार्य तो विचार्य मानव भी शिष्य न तो ये विशेष अनुभूति होने के बाद जितना भी तर्क दो तब से आप विचलित कभी नहीं आदि कौन विचलित होता है जो अनुभव नहीं जिसने भी अनुभव कर लिया है तो कभी विचलित नहीं यदि आपने अनुभव कर लिया आप विदेशी नहीं तो देशी है इतना आपको पता है कि किसी भी रंग का गाय क्यों ना हो दुख तो स्थिति नहीं होती है यहाँ बची तो अनुभव है आपको अनुभव से ध्यान विदेशी में तो गाय देखिए भी उसको क्या पता उसे तुम लोग वीडियो का दूध गाय अपने को या कुछ लोग वीडियो का या तीन वीडियो का उसने गाय भी देखी अब उसे कहो नहीं तुमको मालूम नहीं है ये बाद में लोगों ने सफेद कर देते हैं काली गाय को दूध काली हुआ करती है लाल गाय को जब लाल होती है तो देखो अच्छा अच्छा होता है हाँ ऐसा ही होता है अब और जोर तो दे दो तो कहेगा अच्छा ठीक है मैं मान लेता हूँ क्यों मान रहा है वो तो अनुभव ये अनुरोधित हो गया आप जितना ही तर्क तर्क बीजे होता है असंभव नहीं ऐसा कभी नहीं तो इसलिए कहते हैं कि देखो ये अनुरोधित होने के तब शिष्य कैसे से अनुरोधित हो गया तब अन्य देवत जीविता अपूर्विता यदि तो आचार्य त्यागम संप्रदाय बलात् उपपत्ति अनुभव बलात् आचार्य से उक्त आगम जो था संप्रदाय के बल से परंपरा के बल पर उपबल से और अनुभव के बल पर भी गर्जन दूसरे गर्जन गुरु कहा नहीं महाराज ऐसा नहीं हम जो कह रहे हैं वो न संशय है न दृढ़ निश्चय है मेरा अनुभव सिद्ध वस्तु है ब्रह्म विद्यायाम दृढ़ निश्चयता दर्शन आत्मा वो अपने आप के अंदर ब्रह्म विद्या के विषय में दृढ़ निश्चयता को प्रकट करता हुआ कहा है अनुचित दुर्निषेधा पूरा क्या कहा शिष्य ने यो न यो मध्य सुब्रह्मचारी नाम मध्य मन मधुक्तम वचनम प्रकृति अच्छे स स महात्मा वा तत् हम लोगों में सब ब्रह्मचारी सब ब्रह्मचारी आदि समस्त लोगों में थे जो कोई व्यक्ति मेरे द्वारा कहा हुआ उस वचन को सत्य से भी जानता है तो वही व्यक्ति उस तुमने कहा था दोबारा कहते तो बताओ तो इसमें क्या है जो दिन हो गए तो हजारों बार बोलूंगा जो न दे दे तीन यदि अन्य विदिता अधो अविदिता उत्तम जिसको आगम ने कहा था अन्य देह सभीता अथो अभिता भी उसी तरह उत्तम वस्तु अनुमान अनुभवाभ्यम सुयोज्य उसी को अनुमान उत्पत्ति और अनुभव से करके निश्चित वाक्यांत निश्चय करने के पश्चात उसी बात को वाक्यांत उन्हें नोन वेदे की वेद इस वाक्य का और अन्य देव देवता देवता तदीशा के अर्थ में कोई भी नहीं है उसी बात को वह दूसरे शब्द विदित से परे है और अविदित से भी परे है ऐसा मैं उसे जानता हूँ और लेकिन विदित और अवित रूप में उसको नहीं जानता जो इस वाक्य का तात्पर्य था उसी को वह दूसरे शब्दों में वो लक्षित इसलिए कहते हैं वाक्यांतरण जो निश्चय कर लिया अनुभव और युक्ति के द्वारा उसी को चेहरा जो है वो आज्ञांतर प्रयोग करता हो कहता है नो नवेदी अवोच आचार्य बुद्धि आचार्य का बुद्धि में सम्यक प्रकार से वाद स्थापित करने के लिए कह रहा है मंद बुद्धि ग्रहण को आपूच और हाँ, ये कौन ग्रहण करेगा इस को मंद बुद्धि ग्रहण नहीं कर सकता इसलिए चक्कर पड़ जाएगा उल्टा पुलटा वाक्य लग रहा है सारा इसलिए मन का ग्रहण का विकोह करने के लिए निराकरण करने के लिए ही ऐसा वाक्य प्रयोग कर दिया है जो तो साधारण बुद्धि वाला ग्रहण नहीं कर सकता तो यही कहेगा क्या उल्टा ही भाषा बोलना है जानता भी ये भी जानता है अवश्य जानता कि क्या है ऐसा सोचेगा आम आदमी को सुनाओगे तो यही कहेगा कुछ नहीं जानता तो पागल हो रहा तकलीफ इसलिए मन इंद्री का व्यवहार करना है हमें और आचार्य को संवादित कर देना है कि नहीं हमारे अनुभव से जो उपदेश आपने दिया था उस उपदेश को मनन और विध्यासन विभक्ति और अनुभव के द्वारा मैं सुदृढ़ निश्चय करूंगा और निश्चय मेरा ऐसा है जो कि आपके कब आगम के विरुद्ध भी नहीं है कि मैं आगमाविद वचन में कह रहा हूँ मन मिलने के लिए दृढ़ता कर रहा है इसलिए वह गर्जन पर जो कहा था वह तो बंद हो गया हम लोग उनका बीच में जो मेरे कथा कहा हुआ वचन को संयम प्रकार से वक्त को जन्म लेगा वही इस ग्रह को जन्म सकता है ऐसा मेरा कथन भी उपलब्ध तो नहीं इस प्रकार से शंकर और आचार्य का संवाद समाप्त किया अब श्रुति अपने तरफ से उपसंहार प्रश्नोत्तर की चक्कर खत्म आसान प्रश्न आगे उठना ना ये प्रश्न ना ही जवाब इसीलिए अपने तरफ से समझाती है जो कुछ बात हुआ है उसको संहार करते हुए संग्रह संक्षेप में संग्रह करके बोलिए शिष्य आचार्य संवाद प्रतिनिवृत्य संग्रह शिष्य और आचार्य संवाद से प्रतिनिवृत्य स्वीन रूप समस्त संवाद निवृत्तम अर्थम एवं स्वयं क्या कर रही है समर्थ संवाद में जो सिद्ध अर्थ है उसी को योग बना रही है श्यामतम दक्षिणतम मतम जो नहीं जानता है वो जरूर जानता है और जो कहता है मैं जानता हूँ तो उसी की चीज भी जानता इसलिए मतलब कभी ठेका नहीं ले रहा तो मैं ब्रह्म ज्ञानी हूँ मैं ब्रह्म जानता हूँ फिर आप नहीं जानते ऐसे हुआ काशी की बात है ये महात्मा जो है कोई चीज है उसको विशेष रूप से जान ही नहीं सकता इसे जो कहते है मैं उसको जानता हूँ आप नहीं मैं आपको जानता हूँ अच्छी तरह से आप कितने पानी ठीक मेरे को जान पहुंची तो मैं आपसे अलग हूँ है ना जो जिससे अलग है उसको आप अच्छी तरह जान करते हो जो जिससे अलग रही वो जानेगा कैसे अलग हो तभी जानोगे खुद ब्रह्म को जो आपसे अलग हो तो आप कहो कि मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ वो कितना लंबा है क्या है क्या नहीं है उसका सब वो आप ही है तो जानो दूसरे कह रहे हैं लक्ष्य आमंत्रण जो व्यक्ति उसको विशेष रूपेणा घटपटाली रूपेणा विषय रूपेणा वृत्ति या साक्षी का विषय रूपेणा भी वो नहीं जानता है वही उस वाक्य स्मृति है और जो व्यक्ति अपने इंद्रिया वृत्ति का विषय साक्षी का विषय मन का विषय या किसी भी विषय रूप में ग्रहण करने वाला होता है वह निश्चित रूप से ग्रहण को नहीं जानता जानता है ज्ञानता मध्य अविद्यासम ये भी जो योग्य पदार्थ है इस संसार में उनमें से कोई भी वस्तु ग्रहण नहीं चुके जितने भी जानने वाले वस्तु जानता अविद्या संभव जानने योग्य पदार्थों में से जितने को भी हम जान रहे हैं उनमें से किसी में भी भ्रम को आप नहीं जान सकते उनमें से भ्रम है जानोगे विज्ञापन अभिज्ञानता इसलिए अभिज्ञानता न जाना हुआ वस्तुओं का बीच में ही उसको हम सोच सकते हैं आत्मा मिल जाएगा आप जान पाएंगे इसलिए अगला मंत्र में विस्तार से बताऊंगा बहुत ही सुंदर अगला मंत्र आ रहा है जो श्रुति इसी बात को समझाते हुए बहुत सरल तरीके से बहुत ही सरल तरीका अपनाया है और इतना आसान तरीके लेकिन समझाने के लिए तो बहुत सरल तरीका है अनुभव करने के लिए कहना और समझना बहुत सरल लेकिन उस पर कितना अनुभव करती है वो कठिन जो गौरिया मंत्र में विस्तार करेंगे यश्या ब्रह्म विदो जो ब्रह्मवेत्ता अमतम अविज्ञानम अविदितम ब्रह्म की मतम अभिप्राय निश्चय तो ये समझता है मैं इस ब्रह्म को विशेष रूप नहीं जानता हूँ ऐसे अभिप्राय वाला ऐसे निश्चय वाला जो होगा तस्म संयोग समय प्रकाश ब्रह्म को जान लिया है लक्ष्य प्रणमदा ज्ञातम भूतम ब्रह्मी जो दूसरा कहता है मैंने तो ब्रह्म को जान लिया तो सामने दिखाई दे रहा है मेरे को इति निश्चय हो ऐसा जो निश्चय कर लेता है न ले गए ब्रह्म जाना ब्रह्म को बिल्कुल नहीं जानता है विद्वत अग्निशो यथोक्त पक्ष अवधारणी एक तो पहला वाला विद्वान पर कथा है दूसरा अविद्वान पर कथा है इस प्रकार के तो दोनों ही पक्षों की निश्चित कर दिया अविज्ञापन अमतम आदितम एवं ब्रह्म इसलिए जिस व्यक्ति को मैं जानता हूँ संयमितम विजित वताम सम्यक विजित वताम आप हो आत्मविज्ञान नहीं सकती अधिकतम ब्रह्म सिंह उनमें से किसी को भी आप ब्रह्म करके जान नहीं सकती लेकिन यहाँ समझ नहीं ब्रह्म अब जाता असम्यक इंद्रिय मन बुद्धि एवं आत्मदर्शन कहा जो इंद्रिय मन और बुद्धि नहीं आत्मा को देखना चाहता है ऐसी जो दर्शी है वह भी जो है उस ब्रह्म को वह भी जान सकता है यदि वो उससे पर उठता है न तो अत्यंत अविपन्न बुद्धि कहने का मतलब अत्यंत जो अविपन्न बुद्धि है वो उसको जान नहीं सकता निर्देशा विद्यातम अस्मादि ब्रह्म भौरी क्योंकि उन्होंने ऐसा अत्यंत आदित्य बुद्धि वाला तो कह नहीं सकता कभी कि अस्मादि ब्रह्म विद्यातम लेकिन नहीं भगवती हम लोग जो ब्रह्म जान दिया गया है ऐसा कभी कह नहीं सकता क्यों इंद्रिय बुद्ध उपाधिशो आत्मदर्शनाम को इंद्रिय मन बुद्धिया उपाधियों में जो आत्मदर्शी है ब्रह्म उपाधि विवेक का और उस ब्रह्म को ब्रह्मोपाधि का विवेक से उपलब्ध नहीं हो सकता विज्ञान उपादेश विज्ञात नितम ब्रह्म जी को समझे इधर विद्यारी को ही उपाधियों को वो जान लेता है और उससे विवेक करके पृथक करके यदि ब्रह्म को जान लेता है तो नितम ब्रह्म जी को समझे भ्रांति ऐसा जो जानेगा तो भ्रांति ही जानता है क्योंकि अभी उपाधि से अलग करके ब्रह्म नहीं अनुभव कर रहा है उपाधि में ही ब्रह्म पकड़ना चाह रहा है और उपाधि में ब्रह्म अच्छा पकड़ने इसलिए वह तो उपति दे क्रांति इत्यतः सम्यक दर्शन पूर्व क्षत्र विज्ञापन अभिजान इस सम्यक दर्शन को आदर्शन के प्रति पूर्व चिन्ह पूर्व पक्ष उपन्यास इत्यादि अथवा हेत्यर्थ उत्तरार्ध अभिज्ञ अथवा ऐसा कर लो उल्टा कार्य है पूर्वार्धम उत्तरार्ध है हेत्यर्थ जिसलिए ऐसा है जिसलिए जो है अविद्वान जो है उपाधि में ब्रह्म को ढूंढता है और वह ब्रह्म को जानता है बोलता है उसकी भ्रांति है इसीलिए मैं कहता हूं कि अविज्ञानता इस प्रकार से कार्यकार भाव रूप है ना भ्रांति को पूर्व पक्ष बना करके भ्रांति को समझाओ ये वास्तविक है इस रुपये की भ्रांति है ऐसा भी व्याख्या हो सकती है अगर जिसलिए ऐसा ज्ञानी कर लेता है इसलिए ज्ञानी को इस प्रकार से दो कार्य का भाव को भी व्याख्यान किया जा सकता है इस प्रकार से अविज्ञातों के बीच में से ही उसको जान लिया जाता है ये आपको निश्चित कर दिया है तो ब्रह्मा एवमेव अभिज्ञातम नाम ब्रह्म अभिज्ञात है लेकिन लौकिक में और ब्रह्मविद्ता में अंदर लौकिक आदमी भी ब्रह्म को जानता नहीं है और ब्रह्मविद्ता भी विजान जानने वस्तुओं के बीच में उसको जान नहीं पाता लेकिन दोनों ही जान रहेगा ना दोनों बराबर दोनों मुझे अविज्ञात है विज्ञानता जब परस्पर विरुद्ध तो और है अविज्ञात है अविज्ञात विज्ञानताम अविज्ञातम जानते हुए वस्तुओं के बीच में अविज्ञात है ये जो क्या है हैं परस्पर विरुद्ध जैसा लगता है जानते हुए मैं नहीं जानता ऐसा कैसे हो सकता है जानते हुए नहीं क्या हो मैं जानता ही उसमें न जानना क्या रहेगा तो लगता है ये भी परस्पर विरुद्ध बात है पता है कथन को ब्रह्म समीवेतन भवती किस प्रकार भी उस ब्रह्म को हम समय प्रकार से जान सकेंगे वेद वेदम आहा इस रस प्रकट करने के लिए अगला आरंभ होता है उसी प्रक्रिया कथन यदि आपके वाक्यों में परस्पर विरोध नहीं है अगर नहीं जो कह रहा हो बिल्कुल सुनी है ये फिर इसकी अनुभूति हम कैसे प्रकार बताओ प्रतिवेद बोधम बोधम प्रति प्रतिबोधन प्रतिबोधेश प्रतिबोधन प्रतिबोधम भोजन प्रति प्रतिबोधन प्रति बोध का पीछे उस ब्रह्म को हम जान जानने के लिए हमने पहले भी कभी एक बार दृष्टान दिया था मान लो दस आदमी को खड़ा कर बनाएंगे दसों आदमी को तो आत्मिक पांच दे दो लो चार छोटे अगर डाक ऑफ है उस समय में ये सामान्य प्रकाश दिखाई दे रहा नहीं दिखाई दे रहा सामान्य प्रकाश तो है सामान्य प्रकाश है नहीं एक दो दूसरा को उन दो पौधों के बीच प्राप्ति किए जब ये ब्रह्मांड जाए सामान्य प्रकाश को है लेकिन हम लोग करते भी है कि विशिष्ट के चक्कर में रहते हैं तो एक विशिष्ट का करा उसके बाद दूसरे विशिष्ट में कूद जाते हैं तो सामान्य की स्थिति में हम कूदते निधि को हम कहते धारणा करते प्यार के साथ धारणा करके बैठेंगे तो वृत्ति आ रहे जा रहे आप वृत्ति के साथ आयात हो ये नहीं वृत्ति के साथ आयात नहीं होना सीधा आ रहा जा रहा है जा रहे आ रहा जा रहा आ रहा जा रहा है दिन देवते दिन का अभ्यास होता है धीरे धीरे आपके मन इतनी तीक्ष्ण हो जाएगी आप देख रहे हैं ये आ रहा है घट बोल रहा है घटाकार बना करके आया है और वो वृत्ति खत्म है ये दूसरा वृत्ति शुरू हो पर अभ्यास के लिए बहुत समय लगेगा क्योंकि पहले आप वृत्ति को देखने की क्षमता नहीं है वृत्ति के साथ तुरंत एकदम पैदा हो जाते क्षमता एक वृत्ति को देखती है देने अकेले कहाँ चलेंगे देखने वाले नहीं रहेगा कोई भी ये होता है ना मनोराज्य चलने लग जाए वो देखते देखते वो उसमें भूल जाते हैं मैं देख रहा तो कहा चला गया दुनिया पता ही बैठे बैठे जब घंटा बिता देता तो है कुछ होगा दूसरे वृत्ति के बीच अवस्था को आप आराम हैं और मर्जी से अगला वृत्ति को रोक नहीं सकते आप संकल्प करेंगे आपके मन का तीक्ष्ण होगा संकल्प से कितनी तीक्ष्ण हो जाएगी आप चाहेंगे तो वृत्ति होगा नहीं चाहेंगे एक पटा का वृत्ति आया तो दूसरा पटाखा वृत्ति तुरंत नहीं आएगा आप संकल्प करेंगे जो सामान्य अवस्था में ब्रह्मा का वृत्ति को बनाओ और तो ब्रह्मा का वृत्ति तो बनेगी पटाखा वृत्ति तो नहीं बनेगी ये बता रहे हैं कि अभ्यास करो तब आपको पता चलेगा प्रत्येक बोध का पीछे भी वही था और बोध बोध का बीच में भी वही इसको मतम ऐसा जो जान लेता है अनुभव कर लेता है अमृत तो निश्चित रूप से अमृत अर्थात ब्रह्म ज्ञान से वह मोक्ष कहते हैं कि मैं बहुत बहुत बोलिया आपने कहते आप विजयामृत अमृतम इसको अमृत नित्य आत्मस्वरूप से ही प्राप्त होता है लेकिन आत्मा निवृत्ति ब्रह्माकार वृत्ति क्या है ब्रह्माकार वृत्ति से आवरण करने का सामर्थ्य मैंने सामर्थ्य प्राप्त इसे भीतर में क्या करना है पहले आपको ब्रह्मा की वृत्ति करनी पड़ेगी उस बीच अवस्था पहुंचो और वहां ब्रह्मा की वृत्ति बताओ पटा की वृत्ति बताओ पटाखा वृत्ति को आगे तो अभी विषयाकार वृत्ति न होकर के तो ब्रह्मा की वृत्ति होने लगे ऐसा आपको उससे क्या होगा आपको आवरण भंग करने का सामर्थ्य प्राप्त और जिस समय आवरण भंग होता है और विद्या के द्वारा अमृत तब वह ब्रह्म विद्या पूर्ण फल प्रदाय होकर के उसको मोक्ष प्रदान कर देती है अर्थात ब्रह्माचार वृत्ति से आवंग निवृत्ति होने पर ही अमृत जो नित्य चेतना स्रोत है वो लोग पाता है उससे फल नहीं और आवरण भंग करने का सामर्थ्य पहले ब्रह्माचार वृत्ति का अभ्यास है तो ब्रह्माकार वृत्ति का अभ्यास से जब आप ब्रह्म विद्या को को सामर्थ्य प्रदान करने के बल प्रदान कर लेते हैं तो प्रेमी के आवड़ को ढूंढ कर देते हैं इसलिए ब्रह्म विद्या आपके पास अभी भी है संतान दयान ब्रह्मास्मी सत्यवासी हजारों बार सुन चुके हैं उपदेश भी दे चुके कथा प्रवचन कर चुके हैं आप लोग जिनको नहीं किया सब किए अभी हम नहीं हुआ कारण यह है कि ये प्रक्रिया हम लोगों ने कभी अपनाया नहीं नहीं उनको तो बोल देते बैठो ध्यान करो ध्यान क्या करें कितना ध्यान नहीं हो रहा क्या ध्यान कराए विचारता विजयम करते प्रतिबोधनीतम प्रतिबोधम मैंने बोधम बोधम प्रतिनिधितम बोध करते ना बौद्धा हाँ, प्रत्यय उच्चनते बुद्धि बता बौद्धा तो बौद्ध दर्शन नहीं लेना श्रद्धा मनी बुद्धि वृत्तया बुद्धि बुद्धि प्रतिफलिता वृत्तया प्रतिफलित चैतन्य ज्ञाना बौद्धा प्रत्यय सर्वे प्रत्यय विषया भवंती सभी प्रत्यय भी है विषय के सदा जितने भी बुद्धिवृत्ति रूपा घट ज्ञान पट ज्ञान मट ज्ञान जितने भी ज्ञान हो रहे हैं सकल ज्ञान बुद्धि है विषय जिसका मन इन ज्ञानों का भी जो प्रकाश प्रदान कर अगर बुद्धि में प्रतिफलनात्मक चैतन्य को प्रतिफलित करने वाला जो मुख्य चैतन्य जिसका प्रतिफल ज्ञानाकार वृत्ति के रूप में हम अनुभव करते हैं लेकिन प्रतिफल नहीं वास्तविक चैतन्य जो बुद्धिवृत्ति से विषय ज्ञान जो हो रहे हैं ये सारा का सारा ज्ञान क्या है आपको जो मुख्य चेतन जो फलन चेतन मात्र ही है और में हम लोग आनंदित हो रहे मस्त हो रहे इसलिए वहां पर पैतृक नदी का पश्चय मात्रा उपजीवित उसकी एक मात्रा उसका आनंद का एक गुण है आनंद सागर का एक गुण को लेकर हम इसको छोड़ो इससे और आगे जाओ यह भी है प्रकाशित जित से क्या यह भी है विषय जिस का उस आत्मा को प्रदर्शित जब सर्वे प्रत्यय विषया भवनी यत्मा सर्वोदानी कुटी कुछ तो प्रत्येक भोजन को भी वो बोध करा रहा है वो ना हो तो ये प्रत्येक भोज जो होना है तो होता ही नहीं कहा जाएगा प्रतिफलन प्रतिफलन भी नहीं इसलिए कहते हैं सर्वबोधान स्वात्मा प्रतिबुद्धि अर्थात वह शुद्धात्मा क्या है सर्व सकल प्रत्ययों का दृष्टा है इसे का नहीं दृष्टो दृष्टि लोग देते इन दृष्टा का भी जो दृष्टि है इन दर्शकों के दृष्टाओं का भी जो दृष्टा है तो कभी विपरीत लोग को प्राप्त नहीं शक्ति स्वरूप मात्र वह चैतन्य शक्ति स्वर्गमात्र मात्र विशेष नहीं है वहां कुछ वह स्वरूप मात्र जो वस्तु है वह विशेषण को प्रकाशित कर और विशेषों को प्रकाशित किया उस विशेष प्रकाशन पर हम लोग अपना व्यवहार करें प्रत्येव प्रत्येशो और विशिष्ट से तो लक्ष्य तो और स्पष्ट कर दिया नहीं यहाँ प्रत्येव और प्रत्येषु अविशिष्ट से तो लक्ष्य प्रत्येक प्रत्यय से ही अधिष्ठान रूप में उसको जाना जा सकता है और प्रत्येक का बीच में भी उसको विशेष जाना जाता है अविशिष्ट से हमने सामान्य रूप में अविशिष्ट आनंद प्रारंभ आत्मा को जानने का अनुभव करने का रंग कोई रास्ता नहीं नान्य द्वारणस्ती आत्मनिर्भर ज्ञान आया अतः प्रत्यय प्रत्येगात्मकम ब्रह्म प्रत्ययम जाने प्रत्येगात्मा इन सकल वृत्ति ज्ञान जाने जो स्वरूप वस्तु है प्रत्येगात्मा स्वरूप है जो क्या है ब्रह्म ऐसा ही उसको जान सकते अनुभव कर सकते यदा तदा तब अनुहम तभी मानो कि आपने ब्रह्म को जन्म दिया जब ऐसा होगा तब आपका सम्यक दर्शन हो उसी का नाम समय दर्शन है सर्व प्रत्यवर्षित उपजन अपाय वर्जित स्वरूप का नित्यतम विशुद्ध तत्व आत्मत्तम निर्विशेषता एक तत्व सर्वभूतेश क्या होगा जब सर्व प्रतिदर्शित है सकल प्रत्ययों का भी दर्शी वृत्त स्वरूप में जब स्थित हो जाएंगे तब उपजन और अपाय वृत्ति वृत्ति ज्ञान दिया था वृत्ति ज्ञान तो उपजन उत्पन्न हो रहा है प्रतिज्ञान नष्ट हो रहा है वजन रहता है इससे वही वो दृष्टि ये जो दृष्टा है तो वृत्ति ज्ञानों को देखने वाला वृत्ति ज्ञान को देख रहा हूँ वृत्ति ज्ञानों का अनुभव कर रहा हूँ श्रीमन कर देता हूँ मैं इस ज्ञान का दृष्टा हूँ मैं घट का दृष्टा हूँ मानता हूँ ये जो परिचित दृष्टित्व तो कैसा है तो वजन और अवजन से उत्पत्ति और विनाश कहते हैं हम कभी इसको जानता हूँ कभी इसको क्योंकि अधीन होकर मैं जान रहा हूं नहीं जान लेकिन ज्ञान इस प्रकार के जानना और अजानना दोनों का भी तो जानने वाले मैं जान रहा हूं इसको भी जानने वाला मैं नहीं जान रहा हूं इसको भी जानने वाला कौन है इन दोनों को भी ज्ञान और अज्ञान आधार सकल व्यक्ति को उनको जो भी प्रकाशन करने वाला है वो जो है उपजन और उपाय से निर्जित उत्पत्ति और विनाश रहित स्वरूप के स्वरूप देखते हुए और रूपता ही नहीं पहली विशुद्ध स्वरूप विशुद्ध स्वरूप वहां आवरण गया मल गया अविद्या ही नहीं माया ही नहीं एक बार सूत्र गिरी महाराज जी जैसे नाम ले सकती बार बार बार बार बार बार जो है छह लोग पूछते थे महाराज किसी किसी कैसे लिखा गया हम लोग है इच्छा मर जाएगी इच्छा की माँ मर जाएगी अरे भाई इच्छा की माँ कौन है अविद्या और अविद्या भी मर गई फिर कहने तो बड़ा बंधन होगा अरे ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद अविद्या मर गई मर जाती है इसीलिए जो है दो बार अविद्या आ नहीं चलती है मर गई तो नहीं फिर कहा जाएगी तेरी माँ आती है क्या मुझे भाषा नाम मर गई मुझे आई तो अविद्या मर गई तो फिर दोबारा आप बंधन होने का सृष्टि ही नहीं होता जाओ और जाने तो दो उसको जाने दो फिर देखिए चलो वो भी खत्म हो गया इसलिए सब विशुद्ध स्वरूप तब जाएगा अत्यंत विशुद्ध स्वरूप आत्म निर्विशेषता च वो आत्मा ही है और निर्विशेष है एकत्व वो एक है जो कि सर्वभूत विशेष है अगर रूप में यहाँ पर का अनुभव करना ये जितना भी विशेष है ना हाँ, सदा रूप क्या है ये विशेष है विशेषण करने के लिए सामान्य उसको अगर देखने लग जाओ तो सारा विशेष में वही एक दिखाई देगा जैसे पर्दे पर दृष्टि पड़ जाए तो जितना भी चित्र है चित्रों में भी आपको पर्दे दिखाई देगा चित्रों का क्योंकि आपका मोह नहीं लगेगा चित्र चल रहा है लेकिन आपकी दृष्टि पर्दे को दिखा आप तक तो हुआ नहीं है कभी हो जाती है कठिन काम है आपका आवाज सुनाई दे रहा है चित्र भी दिखाई दे रहा है नाच गान हो रहा है फिर भी आप टीवी का स्क्रीन को देख रहे हैं स्क्रीन में दिखाई दे चित्र को देख न कि आवाज को सुन रहे हैं सब कुछ दिखाई भी दे रहा है सुनाई भी दे रहा है फिर भी नहीं सुन रहे नहीं देख रहे उसका अधिष्ठान निश्चित है बहुत बढ़िया प्रैक्टिस करने का आपका ये भी सूर्य देख रहे टीवी स्क्रीन को देखने की कोशिश करो लेकिन चित्र स्क्रीन ये चित्र भी स्त्री नहीं की मूर्ति लेकिन अध्यास ये चित्र भी स्त्री नहीं ये चित्र भी स्त्री नहीं ये भी नहीं इन दो चित्रों का बीच का जब वो हमारी चित्र आ जाएगा यहाँ भी चित्र आ गया अब ये नहीं इसके बगल कहते हैं कि वह सर्वभूतेशो एक लक्षण मेरा भाव योग घट गिरी राज्य जैसे घट में गिरी के गुफा में कहीं नहीं है वो आकाश एक है जो क्यों क्योंकि उसका स्वरूप में कोई अंतर नहीं करता जैसे ठीक उसी प्रकार से सकल भूतों में भी उस आत्मा का विशेष स्वरूप का कोई अंतर नहीं करता है इसलिए आप वहां पर ना यशवा चांदा गिनाया था ना गीता जी ने